कहते हैं कि न तो ईश्वर ने अज्ञान बनाया है ईश्वर ने अज्ञान नहीं बनाया है ज्ञान को नहीं बनाया है कहना है कि ईश्वर ने ज्ञान अज्ञान नहीं बनाया है और ये दोनों अनादि ही नहीं है तो तो क्या है बोले हमारी मौज है हम ही अपने को अज्ञानी बना के रखते हैं हम ही अपने को ज्ञानी बना के रखते हैं हमारी मौज हो तो अज्ञान को छोड़ सकते हैं हमारी मौज हो तो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं न तो ये अनादि परंपरा से ज्ञान अज्ञान है और न तो ईश्वर ने बनाया है तो ये क्या है तो ये हमारी हमारा ही उल्लास है हम ही अपने को हीरे वाला मान के का भाव बढ़ता है तो धनी मान लेते हैं और हीरे का भाव घटता है तो गरीब मान लेते हैं ईश्वर ने हमको हीरे वाला नहीं बनाया है अपनी एक जात मान लेते हैं उसमें कहीं कोई मरे तो रोने लगते हैं अपना एक मजहब मान लेते हैं तो उसमें कहीं फर्क पड़े तो रोने लगते हैं बोले ये सब का सब हमारा हमारा स्वातंत्र है इसमें भक्त लोग मानते हैं कि हमारा पारतंत्र है जो बांध है सोई छोड़े ईश्वर ने हमको बांध दिया है और ईश्वर हमको छोड़ेगा तो हम टूट जाएंगे उसने अभी अज्ञानी बना रखा है वो ज्ञानी बना लेगा हाँ, तो हम ज्ञानी हो जाएंगे तो भक्त लोग तो ईश्वर ही ज्ञानी अज्ञानी बना के हमारे साथ खेल रहा है जीव परतंत्र है ईश्वर स्वतंत्र है और कश्मीरी सिंह मानते हैं कि ये तो हमारी स्वतंत्रता है स्वतंत्रता तो दुनिया में कुछ हो जाए हम अपने को दुखी न माने इसमें हम स्वतंत्र हैं हो जाए मृत्यु तो बड़े बड़े बहादुर हाँ। तो हमारे बचपन में उनकी बड़ी चर्चा होती थी एक राम बोस के साथी थे तो स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों को फांसी की सजा हुई थी वो बंग भंग जब तो जब उसको फांसी की सजा सुना दी अंग्रेजों ने और हाँ, उसके बाद जितनी देर थी उसने उसका वजन बढ़ा वो हंसता था खिलता था और बहुत अच्छा हुआ जो हमको फांसी की सजा हुई तो क्यों भाई तो बोले कहीं काला पानी हमको भेज देते तो हम 10-20 बरस वहां पड़े रहते और बहुत दुख पाते और अब तो हमारी फांसी होगी तो हम मरेंगे फिर जन्म लेंगे 15 बीस बरस में तो फिर हम स्वतंत्रता का आंदोलन करेंगे हाँ, हाँ, अपना काम करेंगे वो मरने के नाम पर खुश हुआ हो ऐसे बहुत से बहादुर हुए जो गाते हुए फांसी पर लटके सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हम भी गाते थे ऐसा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और हम अपना सिर कटाना चाहते हैं देखना है जोर कितना बाजुए खातिर में कत्ल करने वाले के हाथों में कितना जोर है ये अब हम देखेंगे और तिरंगा झंडा हो ऊंचा झंडा रहे हमारा हाँ, जहाँ डंडा पड़ने का डर होता बंदूक चलने का वहाँ सबसे आगे जाते तो एक ये मैंने उत्साह की जो अपने अंदर कमी है ना बोल नहीं सकते और भगवान छुड़ावे तो रोते हैं उसका बकर गीता में ऐसे लिखा है बोला आपको याद होना चाहिए आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका बड़े आश्चर्य की बात है क्या है भाई कब तुम चाहते तो हो सब मुक्त होना और भगवान जब तुमको मुक्त करता है तब डरते हो आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव का तुम चाहते हो हम सारी दुनिया से मुक्त हो जाएं और भगवान पांच रुपए से मुक्त करता है तो हाय हाय चिल्लाने लगते हैं आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादेव का भक्ति के सिद्धांत में सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ये ज्ञान होने से मेरे हाथ में भी कुछ है इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है और फिर तो जैसे राख हो वैसे ही रहो भगवान तपस्वी जीवन बतावे बनावे तो भोगी बनेंगे कि हाय हाय हम भोग में फंस गए और भगवान तपस्वी बनावे कि हाय हमारे पास तो कुछ है ही नहीं दोनों तरह से हाय हाय करके भगवान के कान खाते हैं तो, सुखी दुखी होना बिल्कुल अपने ईश्वर के हाथ में है तब जो होता है तो होने दो हम्म। और तुम्हारे अज्ञान से है तो अज्ञान को मिटा दो और तुम्हारी मौज है तो जरा अपनी मौज बदल दो सिवाय देवकूफी के दुख का कारण और कोई नहीं है चार बात भी मानता है नरक स्वर्ग आदि का जो दुख है वह ज्ञान करता है बोला मौत कर लो चार बात यही मानता है अज्ञान को दुख है जैन लोग मानते हैं कि प्रमाद के कारण दुख है बौद्ध लोग मानते हैं अविद्या के कारण दुख है न्याय वैसे इस मानते हैं मिथ्या ज्ञान से दुख है सांख्य योग मानते हैं अविवेक के कारण दुख है मीमांसक लोग मानते हैं वेद शास्त्र का जो सिद्धांत है उसका संस्कार न होने के कारण तुम ऐसे ऐसे काम कर डालते हो कि स्वयं बन जाते हो जानते है अपने आप को नहीं जानते हो इसलिए तुमको दुख है कि तो जहां अपनी ही नासमझी से सारा अनर्थ हो और दुख प्राप्त हो रहा है वहां थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है भ्रमात् संसारवानिव आप संसारी नहीं हैं आप भ्रम बस अपने को संसारी मानते हैं भ्रम से जो चीज मानी जाती है वो सच्ची कभी होती नहीं और भ्रम के मिटने से जो चीज मिट जाती है वो भी कभी सच्ची होती नहीं हम दुखी हैं ये भ्रम है अरे आप हैं इससे बढ़िया इससे इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि आप हैं अच्छा इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि जैसे सिनेमा में सब तमाशे दिए देखे जाते हैं आग लगती है लड़ाई होती है बिछुड़ता है मरता है हैं और आप उसका तमाशा देखते हैं ऐसे आप इस जीवन का तमाशा देख रहे हैं आप तमाशाई हैं इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है कि आप हैं और जिंदगी के बाहर के सारे तमाशे देख रहे हैं और इससे बढ़िया क्या होगा कि आप अपने प्यारे हैं इससे बढ़िया क्या होगा कि आप कभी मर नहीं सकते इससे बढ़िया क्या होगा कि आप कभी अज्ञान नहीं हो सकते इससे बढ़िया क्या है कि आप कभी दुख नहीं हो सकते ऐसा बढ़िया क्या है कि कोई दुश्मन आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता ये तो साची बात है सच्ची है ये कुर्सी पर बैठने से नहीं मिलती है वो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होने से नहीं मिलती है ये कोई सेठ पेट होने से नहीं मिलती है और कोई रेस वाला ड्रेस वाला होने से ये चीज नहीं मिलती इसलिए तो ये तो मिली मिलाई है हाँ। तो भ्रमात वाणी वो संसार में जितना दुख है जितनी चढ़ता है और मृत्यु का जितना भय है वो सब नासमझी में से निकला हुआ है नासमझी धनात्म सारवान वो तो भ्रम की निवृत्ति के लिए रोशनी चाहिए प्रकाश चाहिए हम्म। शहर में पहले पहल रात को पहुंचे तो दिशा का ठीक ज्ञान नहीं हुआ पूरा कौन पर पूछ लिया भाई इन दिनों हम लोग उत्तर दिशा की ओर अपना सिर करके नहीं छोड़ते थे जब की बात है शास्त्र में लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं छोड़ते पूछ लेते थे भाई इस चारपाई का सिरहाना किधर को है तो जैसा बताया वो नहीं देता हो और जब सवेरे सूर्य की रोज प्रकाश हो देखा सूर्योदय तो किस ओर हो रहा है तो सूर्य का प्रकाश होते ही दिशा का ज्ञान हो गया हाँ, ये पूर्व है ये पश्चिम है तो विभ्रम बेटे मिट गया ना बुद्धि में फिर धर्मों करके संध्या वंदन किया फिर शाम को सूर्यास्त किया अब धीरे धीरे धीरे ये संस्कार दृढ़ हो गया कि कौन पूर्व है कौन पश्चिम है अच्छा बुद्धि में है मालूम तो पड़ता है अब भी एक शहर है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में तो वहाँ बचपन से ही आठ दस वर्ष की उम्र से ही हमको जाना पड़ता था तो दिग्भ्रम हो गया वहाँ की जो जज्जी कचहरी थी उन दिनों वो दक्षिणाभिमुख थी हमको मालूम पड़ता है कि उत्तराभिमुख है ट्रेन उधर जेल खाना है ट्रेन है अब हमारी ट्रेन जब वहां से निकलती है कभी तो हमको वही भ्रम वाली दिशा मालूम पड़ती है ट्रेन जाती है पूरब को हमको मालूम पड़ता है पश्चिम को जा रही है लेकिन हमारी बुद्धि में वो भ्रम नहीं है वो हम जानते हैं कि ये ट्रेन ट्रेन जब गाजीपुर से बलिया जा रही है तो पूरब की ओर जा रही है पश्चिम की ओर से नहीं जा रही है क्वेश्चन की ओर नहीं जा रही तो भ्रम प्रतीत तो होता है परंतु बुद्धि में वो बाधित है है ना बुद्धि में भ्रम नहीं है आ, हाँ, वो तो अभ्यास संस्कार में भ्रम है तो भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए दिग्भ्रम दूर करने के लिए यदि आप कांच को हीरा समझते हो तो जांच कर लीजिए उसकी हाँ। जांच कर लीजिए तो मालूम पड़ेगा ये कांच है हीरा नहीं जिसको आप हीरा समझ के रोते हैं वो हीरा समझ के खुश भी होता है एक, एक बात आपको सुनाता हूं हम लोग जा रहे थे बद्रीनाथ वो पैदल जा रहे थे दादा के पास एक घड़ी थी उन दिनों वो सवा सौ रूपये की थी किसी ने दिया था तो रुद्रप्रयाग के आगे जाने पर हम लोग किसी चट्टी में रात को सोए और जब वहां से पांच चार मील चल के सवेरे सवेरे आगे बढ़ गए तब दादाजी को मालूम पड़ा कि हमारी घड़ी तो कहीं गिर गई या छूट गई तो हम बढ़े आगे और वो लौट के गए पीछे घड़ी ढूंढने के लिए हम तो दस ग्यारह मील बारह मील चल के फिर तो बैठ गए जब दादाजी लौट के आएंगे तब आगे चलेंगे दादाजी लौट के आए बड़ी धूप हो गई थी कड़ी धूप खांसते थे सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं था व्याकुल थे अच्छा, मैंने कहा घर पर पड़ते पानी ले आओ पानी लेने गए दादाजी तो वहां एक अंगूठी मिली और वो चमाचम चमकती थी ले आए हमको दिखाया हमने कहा भाई ये तो हीरे की अंगूठी है तो दो हजार रूपये की तो जरूर होगी अब महाराज उस सवा सौ की घड़ी खोने का जो दुख था वो तुरंत मिट गया देखो भगवान ने भगवान ने सवा सौ रूपये को उसका तो नुकसान किया और दो हजार रूपये की अंगूठी दे दी और वहाँ ढूंढना यात्रियों में ये तो शक्य नहीं था कि किसकी क्योंकि यात्री तो वहाँ आते जाते हैं ना रहते तो है नहीं किसकी कब गिरी तो वो अंगूठी लेके हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे तो जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां जाके किसी को दिखाया कि ये अंगूठी कितने की है तो उसने बताया तो चार आने की हो हाँ, हाँ। देखो भ्रम से धनी हुए भ्रम से गरीब हो गए भ्रम ही है ना दोनों हमको ये हीरे की अंगूठी मिल गई अरे ये तो कांच की है ऐसे ये दुनिया में जितने दुख सुख हैं ये बिल्कुल प्रांत है वो न कोई अपना है न कोई पराया है न कोई मिलता है न कोई बिछुड़ता है तो ये चीज के बारे में आपका ख्याल हो कि हमसे बहुत प्रेम करता है तभी तक ये पुल पट्टी है जब तक हम समझते नहीं हैं क्योंकि तो उसके पास कोई और ऐसा है जिससे वो आपसे भी ज्यादा प्रेम करता है तो नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता खास करके विरक्त लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये हमारा चेला हमसे बहुत प्रेम करता है हाँ। उनको प्रेम क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं होता है तो वो दूसरे के प्रेम पर विश्वास ज्यादा करते हैं आदमी दूसरे के धन को जैसे गरीब लोग हैं ना हाँ दूसरे के पास लाख रुपया हो तो करोड़ बता देंगे दूसरे के धन को कम नहीं मानता और फंस जाते हैं ये हमसे बहुत प्रेम करता है यदि उसकी पूल पट्टी खुल जाएगी तो आप देखेंगे कि आपसे वो जितना प्रेम करता है उससे ज्यादा प्रेम करने के लिए उसके पास कोई और है तो शायद वही हम हो सकते होता है तो नहीं <laughs> वो आप नहीं हैं वो उसका अपना आपा है हाँ जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है हाँ, उसके सामने वो तीन लोग को निछावर करके फेंक सकता है हाँ, और यदि ईश्वर भी उसके मन के अनुसार न चले तो ईश्वर को भी चार गाली सुना दे सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से आप अपने आप को दुखी मत कीजिए अच्छा जी तो आइए अपने बारे में जब आपका ज्ञान आएगा तब ये भ्रम में जाएगा असल में भ्रम तो ईश्वर के बारे में भी है और भ्रम जगत के बारे में भी है और भ्रम अपने बारे में भी है हाँ, भ्रम है तो आप अपने आप को देखिए कूटस्थम बोधमद्वैतम आत्मानम परिभावय आभासोहम भ्रमम मुक्त भाव बाह्यमता अहंकार बीच में आ गया है आप अपने को वो रोशनी नहीं समझते जो सबके हृदय में प्रतिबिंबित होती है आप वो प्रकाश हैं जो देश के भीतर नहीं होता देश का प्रकाशक होता है गुरु तो महाराज वो राजनीति में और राष्ट्रीयता में और भारतवर्ष एक देश है ऐसा नहीं इंग्लैंड एक देश है देश पैदा होते मिटते रहते हैं आपको मालूम है ना पाकिस्तान पहले कहां था बन गया ऐसे दो देश पहले अलग अलग होते हैं फिर एक हो जाते हैं एक होते हैं फिर अलग अलग होते हैं इसका नाम देश नहीं है देश माने ये जो लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है ये लंबाई ये चौड़ाई हाँ, हाँ। इसके अंदर मैं हूं ये भ्रम है प्रांतीयता का हो मैं अमुक प्रांत का हूं दूसरे प्रांत को तकलीफ देने वाला हो जाता है कलकत्ते में बिहारी और बंगाली की ऐसी लड़ाई होती है जैसे हिंदू मुसलमान की पहले हुआ करती थी ऐसी महाराज बिहारी और बंगाली आपस में लड़ते हैं यहां महाराष्ट्र और गुजरात का दंगा हमने अपनी आंख से देखा था मैं था यहां तो राष्ट्रीयता को मार डालती है और राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता को मार डालती है जातीयता मानवता को मारती है मजहब धर्म को मारता है जितना परिच्छिन्न भाव आप करेंगे आपने अपने को एक टुकड़ा समझा और दूसरे टुकड़े से और खनाखन खन खन खन खन तेजा वाजे चमचम चमक उठे तलवार जहां जहाँ अपने को आप टुकड़ा मानेंगे पत्नी से भी लड़ाई होगी वो पति से भी होगी भाई से भी होगी बेटे से भी होगी माँ से भी होगी आपका जो अलगाव है वो लड़ेगा आप वो हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई की माप नहीं होती आप एशियाई भी हैं यूरोपियन भी हैं अमेरिकन भी हैं अफ्रीकन भी हैं आप क्या नहीं हैं आप धर्मात्मा हैं हिंदू मुसलमान ईसाई सब हैं आप मनुष्य हैं आप में ब्राह्मण क्षत्रिय सब है आप जीवात्मा हैं आप में पशु पक्षी सब है आप अद्वितीय ब्रह्म हैं अपने आप को जानिए आप कौन है बोध मद्वैतम पुनः पुनः विचार कीजिए क्योंकि तो अनादिकाल से आपकी वासना में जो भ्रम भर गया है कि मैं नन्ना मुन्ना हूँ ये बचपन छोड़िए ये बचपन है वो अपने को छोटा मान बैठना ये बचपन है ज्ञान का ज्ञान की अविकसित अवस्था है अपने को चाहे देह मानो चाहे आभा तो हम भ्रमम मुक्त सबके दिल में एक रोशनी रोशन हो रही है सबके हृदय में एक ही ज्ञान है एक ही सत्य है एक ही आनंद है सबके हृदय में आप कूटस्थ बोध अद्वैत है कूटस्थ में क्या होता है छोटा आप देखो कूटस्थ का सुनार के घर में जेवर करने के लिए जो लोहे की निहाई होती है ना जिसके छोटी सी हथौड़ी देके सोने को चांदी को सुनार पीटता है उस लोहे के निहाय को संस्कृत भाषा में बोलते हैं ऊट कि उस पर कितने जेवर तोड़े जाते हैं और कितने जेवर बनते हैं और जो का त्यों महाराज सुनार की कितनी पीढ़ी से चला आ रहा है और कितनी पीढ़ी तक रहता है और जेवर कितने बनते और बिगड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कूटवत स्थित आत्मा क्या है बोले कूटस्थ है इसमें क्या होता है कि कितनी सकल सूरत बनती है स्त्रियों को तो इसका बहुत अनुभव है महाराज हाँ, बाईस कैरेट का सोना घर में खरीद के रखो और तीन चार बार उसका जेवर बनवाओ और तोड़वाओ नई नई डिजाइन करवाओ दो एक दो बार में वो 22 कैरेट का 9 कैरेट रह जाएगा आपकी डिजाइन तो बदली लेकिन उसके साथ जो सोने की किस्म थी ना वो भी बिगड़ गई तो ये जो नाम रूप हैं ये तो गढ़े जाते हैं बनते बिगड़ते हैं और जो सत है वो एक रक्त रहता है वृत्तियां कितनी आती हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति फिर काम क्रोध लो फिर मेरा तेरा सुखी दुखी और ज्ञान एक रहता है कर और द्वैत बनते बिगड़ते हैं और अद्वैत एक रहता है वृत्तियां बनती बिगड़ती हैं दोष एक रहता है और आभास बनते बिगड़ते हैं कूटस्थ एक रहता है तो सत की दृष्टि से आप कूटस्थ हैं और वृत्तियों की दृष्टि से आप बोझ हैं और ये भेद भ्रम जो है भेद जाल इसकी दृष्टि से आप अद्वैत हैं इस बात को बारंबार सोचिए भीतर मैं सुखी दुखी हूं ये मत आने दीजिए ये आभास है हाँ। और बाहर ये मेरा है ये तेरा है ये मत आने दीजिए अब आप लोगों का मेरा तेरा कैसा है ये तो भगवान जाने आप तो सब बड़े समझदार हैं सबका खात्मा आप रोज देखते हैं खात्मा माने शून्य आत्मा में शून्य स्वरूप का माने शून्य सबका खात्मा होता है कहा तो सुसुप्ति में आप धनी रहते हैं आप बेटे वाले रहते हैं आप परिवार वाले रहते हैं जब गाढ़ नींद आती है तब आप धनी रहते हैं गरीब रहते हैं बुद्धिमान रहते हैं विद्वान रहते हैं क्या रहते हैं सबको छोड़ने पर आपको विश्राम मिलता है अगर एक दिन ये विश्राम न मिले दो दिन न मिले तीन दिन न मिले तो डॉक्टर की दवा करनी पड़ेगी माने छोड़ के छोड़ के रहे बिना आपको विश्राम नहीं मिलता है सुखी दुखी भी छोड़ के रहना होता है रोज चाहे जितना रो लें दिन में सोते समय नहीं रोएंगे चाहे जितना हंस लें दिन में सोते समय नहीं हंसेंगे जब ये हंसना रोना दोनों छूटता है तब आपको विश्राम मिलता है पर ये है कि इस विश्राम में दोष क्या है कि जब दुनिया मालूम नहीं पड़ती है तब आपको विश्राम मिलता है न ईश्वर मालूम पड़ता न जीव मालूम पड़ता न जगत मालूम पड़ता न अपना पराया मालूम पड़ता तो जब नहीं मालूम पड़ता तब आपको विश्राम मिलता है और जो वेदांत जीता जागता वेदांत इसमें न मालूम पड़ने की जरूरत नहीं है सब कुछ मालूम पड़े और आप विश्राम में रहें ये युक्ति वेदांत के पास है कि मालूम तो सब पड़े पर और सुसुप्ति में तो विश्राम मिलता है और वेदांत में विश्राम नहीं परमानंद का अनुभव होता है परमानंद को सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और दुनिया मालूम पड़ती रहती है तो समाधि काय को लगाई जाती है न मालूम पड़े इसके लिए तो नहीं नहीं आपका ख्याल ये गलत है बोला वो आपकी बनाई हुई दुनिया को आप मिटा भी सकते हैं ये जो सामर्थ्य है आपके अंदर उसको जाहिर करने के लिए समाधि लगाई जाती है ये सारी दुनिया आपकी बनाई हुई है कौन बच्चा ऐसा पैदा होता है जो अपनी माँ को पहचानता हुआ ही पैदा हो ये मेरी माँ है भरा गया कौन पत्नी ऐसी पैदा होती है जो अपनी अपने पति को साथ लिए हुए पैदा दुनिया है आपकी मानसिक रचना आपके मन का खाना बाना आपके मन का जाल ये मेरा ये मेरा ये मेरा तो ये जो अंतकरण सहित आत्मबोध है सारे अनर्थ का निदान यही है आप हैं तो प्रकाश परंतु अंतकरण वाले नहीं छोड़ने की चीज वही है जन्म मृत्यु का भय उसी में होता है समझदारी ना समझ का भय उसी में होता है और सुख दुख का भय उसी में होता है मरने जीने का भय उसी में होता है उस अंतकरण को ही छोड़ना पड़ेगा तो ये कैसे होगा इसके लिए मुनित प्रेम नमस्कृत्य व्याकरण के प्रारंभ में सिद्धांत समझे है मुनित प्रेम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य परिभावना करनी पड़ेगी क्या तो, तो पतंजलि है और कात्यायन है और पाणिनि है पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने क्या कहा है उनके वचनों का परिभावन करना विचार करना हो बारंबार बारंबार बारंबार हाँ। एक बार के विचार में एक चोट में निशाना नहीं लगता है तो बार बार लगाओ लक्ष्य भेद तो एक ही बार होगा पर निशाना लगाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा ना तो आत्मान परिभावय अपने आप का विचार करो देखो भाई आज हेमलता हाँ हेमलता और पंथी खटाओ आज्ञा कथा ब्रह्म विद्या नवध्या ध्यानम तत्त्वात्मवानम् स्थिरचरहितकृच्छेमुषि शान्तिभूषा चारुचरिया चारुचर्या जननयनमनोमोहनी मुक्तवर्या तम् पूर्णानन्दतीर्थम् गुरुममृतमृतम् ब्रह्मूर्तम् ओ इंद्र शब्द का अर्थ है हाथ के अभिमानी देवता को ही इंद्र कहते हैं तो देवता के प्रधानता से उसका नाम है इंद्र और भौतिकता की प्रधानता से उसका नाम है आत्म न इंद्रों का अर्थ होता है हम अपने हाथ से अच्छे अच्छे काम करें वृद्धाश्रवा बड़ा यशस्वी है अयम में हस्तो भगवान ऋग्वेद में मंत्र हो ये मेरे हाथ भगवान है अयम में भगवत तरह ये बड़ा भगवान है छोटा भगवान नहीं है बड़ा भगवान अयम में हस्तो भगवान अयम में हस्तो भगवत तरह ऋग्वेद का मंत्र है तो आदमी का फैलने का मन होता है ब्रह्म रूप है ना तो जो ब्रह्म रूप होगा वो संकीर्णता में कभी अटेगा नहीं तो जब मनुष्य अपने को शरीर मान लेता है जीव तब भी उसका मन रहता है कि मैं फैल जाऊं तो कैसे फैलेगा तो उसका यश बढ़ेगा तो उसको संतोष होगा कि मैं फैल गया इसलिए उसको वृद्ध स्वभाव हाँ, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा ये पूषा पूखा हाँ, यजुर्वेद में पूखा बोलते हैं वो हाँ, और ऋग्वेद में पूषा बोलते हैं ये उच्चारण का भेद है पूखा माने सूर्य जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है आंख हम अपनी आंखों से सब चीजों को ठीक ठीक देखें स्वस्ति नारक्षो अरिष्ट नहीं जिसके रथ का पहिया जिसकी पाख कहीं प्रतिहत नहीं होती वो शब्द रूप गरुड़ ये जो हम बोलते हैं ये गरुड़ है हृदय में भगवान हैं वो शब्द के गरुड़ पर बैठते हैं और दूसरे के कान के रास्ते घुसकर हृदय में प्रवेश करते हैं तो ये शब्द गरुड़ है ये भगवान का बाहर है अच्छा और इसकी गति कहीं रुकती नहीं है यहां तक कि बोलना हो कि वो शब्दातीत है तो भी शब्द से ही बोला जाएगा बोले अरे वहां वहां शब्द की गति नहीं है तो तुम कर क्या रहे हो तो शब्द ही तो बोल रहे हो अरिष्ट नेम का अर्थ है कि ऐसी कोई बात नहीं है जहां शब्द की पहुंच न हो अशब्दम भी शब्द कह के बोला जाता है न तत्र वाग गच्छति ये तो वाचो निवर्तनते सब शब्द ही है स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पति माने बुद्धि बुद्धि के देवता का नाम है बृहस्पति लेकिन जो अच्छी बुद्धि देता है वो तो बृहस्पति है हाँ, देवता का गुरु है देवता के गुरु का नाम बृहस्पति होता है और दैत्य के गुरु का नाम शुक्र होता है शुक्र माने बल भी दैत्यों को मार्ग का निर्देश कौन करता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है ताकत देखेंगे दूसरे के ऊपर छा जाएंगे और देवता का जो गुरु है वो बुद्धि बुद्धिमत्ता का मार्ग बताता है तो हमारे हाथ से अच्छे काम हो आंखों से अच्छी अच्छी बात देखें मुंह से अच्छे शब्द बोलें और बुद्धि से हाँ, बुद्धि से बढ़िया बढ़िया बात सोचें है वेद का मंत्र स्वस्ति माने अविनाश स्वस्ति शब्दों विनाश वचना आओ आपका शांति पाठ अब कहते हैं कि जरा अपने बारे में भी एक नजर दौड़ाइए आत्मानम परिभावय दूसरों के बारे में आप बहुत विचार कर चुके बस बस अलम अलम अनात्म विचारेणा आत्मानम परिभावय दूसरों की बात मत सोचो अपने बारे में विचार करो आप अपनी आंख पर एक दूरबीन लगा लें और आपको मालूम न हो कि ये कितनी दूर तक दिखाता है तो आप उससे सही कुछ नहीं जान सकेंगे एक खुरदबीन आप ले लें ये किसी चीज को लाख गुना करके दिखाता है कि दस हजार गुना अगर ये आपको मालूम नहीं हो तो खुर्दबीन से दूरबीन से देखी हुई चीज आपको बिल्कुल गलत दिखेगी तो यदि आप अपने बारे में नहीं जानते हैं कि आप कहाँ बैठ के देख रहे हैं आप कितनी ऊंचाई से देख रहे हैं कितनी ऊंचाई से देख रहे हैं, हैं? आप सीधी नजर से देख रहे हैं कि तिरछी नजर से देख रहे हैं आंख दबा के देखेंगे तो एक दिया दो दिखेगा हो एक चंद्रमा दो चंद्रमा दिखेगा अगर आंख दबा के देखेंगे तो आपकी देखने वाली जो नजर है आप अपने को देखिए कि आप कहाँ बैठ के देख रहे हो एक महात्मा है तो उनसे कहो कि ये बात ऐसी है महाराज स्वर्ग ऐसा है नरक ऐसा है अगला जन्म ऐसा होगा तो कहेंगे कि जहां तुम बैठे हो वहां से ऐसा दिखता है बोले ईश्वर निराकार है का ईश्वर साकार है बोले जहाँ तुम बैठे हो वहाँ से निराकार दिखता है जहाँ तुम बैठे हो वहाँ से साकार दिखता है तुम कहाँ बैठे हो इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि तुम कहाँ बैठकर अब शाम के समय हो जब सूर्यास्त होने लगता है तो जो चीज लाल नहीं होती है वो भी लाल दिखाने दिखने लगती है सूर्य की का जो पहला दर्शन होता है उसमें रंग मालूम पड़ता है बड़ा प्रबल है, है? तो ये सायंकाल है कि प्रातः काल है आप ऊंचे बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं आपके पास जो जानने का औजार है सो कैसा है अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप किसी चीज को ठीक ठीक कैसे देख सकते हैं इसलिए आलम आलम अनात्म ज्ञान दूसरों को समझने की कोशिश बेकार है आत्मानम परिभाव अपने आप को जानो कस्तम कौन हो तुम तो? आत्मान परिभाव अन्य का विचार छोड़कर अपने बारे में थोड़ा विचार करो अरे बाबा आत्मा का विचार न हो तो यही सोचो हो कि तुम क्या क्या खाते पीते हो और जो आवेगा सो खा लेंगे यही सोचो कि तुम क्या क्या करते हो हाँ। यही सोचो कि तुम्हारे मन में क्या क्या विचार आते हैं यही सोचो कि ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है और उसमें मैं क्या हूँ हाँ। एक महात्मा ने कहा ये दुनियादार लोगों की आंख नजर इतनी भोड़ी हो गई है कि ये केवल जागते समय जो चीजें मालूम पड़ती है उन्हीं उन्हीं को सच मान करके उसी के आधार पर सत्य असत्य का निर्णय करते हैं